शान्ति शान्ति सहनौ सह वीर्यम् करवा यत्र भवती अयुक्त न मनसा सदा तस्ेन्द्रियाणि दुष्टा स्वायु सारथे यस्तु विज्ञानवान भवती युक्त न मनसा सदा तस्ंद्रिया वश्यानि सदस्वायव सारथे यस्त विज्ञानवान भवती अमनस्क सदा शुचिः न सत्पदमापनोति संसारं चाधिगच्छति यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कस्तदा सुखी सतु सत्पदमापनोति यस्मात् भूयो न जायते विज्ञान पारचर्यस्तु मन प्रग्रहवान् नरा शोध्वन पारमाप्नोति तद विष्णो परमं पदम् ओम शांति शांति शांति तो अपना आत्मा है इसके बारे में दो बात पर ध्यान दो मैं हूँ क्योंकि मालूम पड़ता है और मैं मालूम पड़ता हूँ इसलिए हूँ मैं हूँ इसमें क्या प्रमाण है कि मालूम करना और मालूम करना इसमें क्या प्रमाण है कि मेरा होना इसका अर्थ हुआ कि अति और भाति आत्मा का सत रूप और आत्मा का चित रूप ज्ञान रूप और सत रूप ये दोनों अलग अलग नहीं है एक है यही अस्थि रूप कभी बाधित नहीं होता किसी को ये अनुभव नहीं हो सकता कि मैं नहीं हूँ ये अनुभव कभी किसी को नहीं होगा क्या तो मैं नहीं हूँ ये अनुभव कभी किसी को हो गई नहीं जिसको होगा वो तो है ही है और किसी को ये अनुभव नहीं होगा कि मैं अज्ञान रूप हूँ तो क्या तो मैं अज्ञान रूप हूँ ये भी तो मालूम ही पड़ेगा तो अब ये बात कहो कि अनादिकाल से अनंत काल तक और विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक और विश्व की निर्माण की संहार की किसी भी दशा में मैं नहीं हूँ ये अनुभव नहीं हो सकता और मैं अज्ञान रूप हूँ मैं जड़ हूँ ये अनुभव भी नहीं हो सकता क्यों कि जो जड़ को जानेगा तो चेतन है तब ये बात कट गई अब ये बोले कि एक अनुभव होता है ये तो हुआ अस्थि और धात दोनों एक हैं अब दूसरा अनुभव हुआ भगवती कोई चीज हो रही है तो देखो अस्थि ज्ञान है और ज्ञान अस्थि है परंतु जो चीज होती है उसमें परिवर्तन है अस्थि में परिवर्तन नहीं है भाती में परिवर्तन नहीं है परंतु भवती में परिवर्तन है कोई चीज हो रही है परंतु प्रयत्न नहीं है उसमें भवती हो रही है जब करोती आता है ना करता है तब उसमें प्रयत्न भी आ गया अस्थि और भांति दोनों एक हैं और भगवती में जो परिवर्तन है वो मालूम करता है और करोती में कर्तापन का अभिमान आ गया परिवर्तन आ गया और उसके बाद तो घूमते अब करेगा तो भोगेगा हाँ? जो करेगा तो भोगेगा अगर तुम एक गाली किसी को दोगे तो चूंकि जिसको गाली दी गई वो भी तुम ही हो जिसको तुमने पराया समझ के अन्य समझ के जिसको गाली दी वो तुम ही हो इसलिए वो गाली तुमको जरूर लगेगी चाहे सामने वाले को लगे चाहे नहीं लगे जब दूसरे को तुम कभी हरामी बोलोगे नारायण है तो वो हरामी आकाश में टकरा के परमात्मा से टकरा के फिर लौटेगा है ना और वो तुमको कहेगा कि तुम हरामी तुम बोलोगे तुम हरामी और आसमान बोलेगा तुम हरामी वो आवाज कहीं न कहीं टकरा के तुम्हारे पास लौटेगी जो काम तुमने दूसरे के लिए किया है जो शब्द तुमने दूसरे के लिए कहा है वो तुम्हारे पास लौट के जरूर आवेगा उससे तुम बच नहीं सकते तो जब करोती तो घूमते जो करता है तो भोगता है हाँ। तो बाबा इससे छूटे कैसे बोले कि जब भोगना करना होना तीनों का दृष्टा अपने को जान करके सन्मात्र हो तो सन्मात्र माने काल से अपरिच्छिन्न और चिन्ह मात्र माने जड़ से अपरिच्छिन्न और फिर लंबाई चौड़ाई से अपरिच्छिन्न परिपूर्ण सन्मात्र चिन्ह मात्र अपने को पर ब्रह्म परमात्मा से एक जानोगे तब तुम सबकी आत्मा हो जाओगे तो इंद्र का सुख तुम्हारा सुख है ब्रह्मा का सुख तुम्हारा सुख है सम्राट का सुख तुम्हारा सुख है एक महात्मा से किसी ने पूछा कि ईश्वर हमारे ऊपर खुश है इस बात को हम कैसे जाने तो महात्मा ने पूछा कि तुम अपने ऊपर खुश हो कि नहीं तुम अपने काम से जो करते हो तुम अपने भोग से तुम अपनी रहनी से तुम अपनी बोलन से चलन से है ना तुम अपने विचार से संकल्प से अपने ऊपर खुश हो कि नहीं तो बोले बाबा हम तो अपने ऊपर संतुष्ट हैं हम तो बिल्कुल ठीक हैं कहते तो विश्व तुम्हारे ऊपर खुश है तो नहीं हमको तो खुद से असंतोष है मैं नाराज हूँ अपने से ना दूसरा मेरे ऊपर कैसे नाराज हो सकता है है ना जब मैं अपने ऊपर नाराज होऊंगा तब दूसरा मेरे ऊपर नाराज हो सकता है जब तक मैं अपने काम से अपने भाव से अपनी स्थिति से अपने ज्ञान से अपने में असंतुष्ट नहीं हूँ तब तक मेरे ऊपर दूसरा कैसे असंतुष्ट हो सकता है उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है मुझसे प्रकट तो भोक्ता कब हम होते हैं तो ये बात बताई कि आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोगते त्याहुर मनीषिणा ये मनीषी लोगों का मनीषी शब्द का मुंशी बन गया है लोक में है ना मनीषी मुंशी ये जो मुंशी हैं मुंशिक हैं जो मनीषी हैं उन लोगों का ये कहना है कि जब तुम देह को मैं इंद्रिय को मैं मन को मैं मानोगे तब तुम पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी करता भोक्ता हो जाओगे और जब तुम देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि से अपने आप को विलक्षण जान लोगे क्योंकि शुद्ध आत्मा न करता है न भोगता ध्यायती इव लीलायती इव श्रुति कहती है कि आत्मा जो है वो किसी का ध्यान नहीं करता ध्यान करता क्या है वो कभी प्राण के साथ चंचल नहीं होता चंचल हो जाता है तो यदि भोगता अपन आत्मा का स्वभाव होता करता अपन आत्मा का स्वभाव होता तब तो कभी उसकी निवृत्ति होती नहीं ये तो केवल अभिमानिक है जो हमने अभिमान कर लिया हम दे हम इंद्रे हम मन बस तो साधन की प्रधानता से और फल की प्रधानता से अब पांच मंत्र यहाँ अध्यात्म शास्त्र के संबंध में बोले जाते हैं तो साधन की प्रधानता से दो मंत्र हैं किसके जीवन में साधन का प्रकाश साधन का विकास साधन का उल्लास होता है और किसके जीवन में साधन की हानि होती है ये दो बात तो साधन के संबंध में है और किसको फल की प्राप्ति होती है किसको फल की प्राप्ति नहीं होती है और फल का स्वरूप क्या है ये तीन बात फल के संबंध में है तो आए अब उसको यज्ञानवान भवती न मन का सदा तस्ेन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टा स्वायुवसारथे जब तुम्हारी जीव से किसी की निंदा निकले तो समझना कि तुम्हारा घोड़ा तुम्हारे काबू में नहीं है हाँ, मोटर का ब्रेक खराब हो गया तो कब कि जब तुम्हारे मुंह से किसी की निंदा निकले क्योंकि तुम्हारी जीत काबू में नहीं है तुम्हारा मन काबू में नहीं है तुम्हारी बुद्धि हाँ, एक परमात्मा में भ्रष्टता का दर्शन करके स्वयं भ्रष्ट हो गई स्वयं दुष्ट हो गई तो यु अविज्ञानवान भवती अयुक्त न मनसा सह यस्तु बुद्धियाख्यार ही अभिज्ञानवान अनुपुण अविवेकी प्रवृत्त निवृत्त भवती जो सारथी आपने कल सुना था ना कि देह है कारक देह है रक्त हाँ और इंद्रियां हैं घोड़े और मन है लगाम और बुद्धि है सारथी और जीवात्मा है रथी जब हमारी बुद्धि हमारा मन और हमारे इंद्रिय हमारे दुश्मन से दोस्ती कर देते हैं सारथी को ड्राइवर को हमारे दुश्मन ने मिला लिया डाकू ने मिला लिया और लगाम सड़ गई टूट टाट गई इधर उधर से और घोड़े जो हैं उनको हरी हरी घास खिला के बरसा दिया कि तुम गड्ढे की तरफ चले जाना ऐसा हो गया तो सारथी कैसा है असल में सारथी शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है सरथी अश्वाम सारथी अश्वाम इत्यर्थम निज गर्भित प्रयोग है जो घोड़ों का संचालन करता है उसको सारथी बोलते हैं माने जो मोटर ठीक ठीक ड्राइव करे हो ब्रेक उसके हाथ में हैंडल उसके हाथ में है ना उस ड्राइवर को सारथी बोलते हैं वो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति की ओर मोटर को ले जा रहा है कि नहीं जहाँ पहुँचना चाहते हैं आप कभी टैक्सी पर बैठो और आप जिस दिशा में जाना चाहते हो उस दिशा में अगर वो मोटर न ले जाए जंगल की तरफ ले जाए तो क्या समझेंगे ये हमको लूटने के लिए उधर ले जा रहा है तो आपका रथ अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है कि नहीं और आपका सारथी आपकी आज्ञा में है कि नहीं है कहीं शराब पी के मतवाला तो नहीं हो गया है और दूसरी बात है कि उसको चलाना आता है कि नहीं अभिज्ञानवान संचार शंकराचार्य ने ये दिया है वो अभिज्ञानवान अनिपुण अविवेकी प्रवृत्त च निवृत्त च जैसे कोई ड्राइवर हो उसको पहले तो मोटर चलाना आता ही ना हो कैसे आगे बढ़ाना चाहिए कैसे पीछे कहाँ पीछे हटाना चाहिए कहाँ मोड़ना चाहिए ये ड्राइवर को न मालूम हो प्रवृत्त च निवृत्त च प्रवृत्ति माने आगे बढ़ना निवृत्ति माने लौटना और अभिवेकी माने हाँ। किस मोटर को दाहिने छोड़े किसको बाएं छोड़े कब रोक लें कब आगे चले विवेक ही नहीं है अपने शरीर रूप रथ के संचालन का अगर आपकी बुद्धि की दशा ये है महाराज और अयुक्त न मनसा सद, मन बोले लगाम की पकड़ नहीं है कब कड़ा करना चाहिए लगाम को और कब ढीला करना चाहिए है ना ये जो लोग घोड़े पर चढ़ रहे हैं ना वो बताते हैं कि यदि लगाम खींच दें तो घोड़ा बड़े जोर से आगे को बढ़ता है और ढील छोड़ दें तो सामान्य गति से चलता है कैसे इंद्रियों का संचालन करना चाहिए इनको कितना महत्व देना चाहिए बोले कि मन को युक्त होना चाहिए युक्त होना चाहिए माने बिल्कुल सारथी के हाथ में होना चाहिए सारथी को कहा जाना है ये मालूम होना चाहिए वहाँ जाने का रास्ता मालूम होना चाहिए है ना और उस रास्ते पर कहा मोड़ है ये उसको मालूम पड़ना चाहिए कब मोटर धीरे चलाना कब तेज चलाना ये मालूम होना चाहिए कहाँ रोकना चाहिए कहाँ तेज में चलना चाहिए ये बात मालूम होनी चाहिए यदि वो मोटर चलाने में रथ चलाने में निपुण नहीं है है ना और उसके हाथ में अपने जीवन की मोटर छोड़ दी तो सत्येन्द्रियाणी अवश्यानी ये इंद्रिय रूपी घोड़े मोटर में जो पावर होता है ना उसको भी घोड़े ही बोलते हैं वो हार्स पावर बोलते हैं ना हार्स पावर ये संस्कृत भाषा में घोड़े के लिए एक तो हाय शब्द है आप जानते हैं ना है हाय हय ग्रीव अरे तो जो बोलता है ना जो उसकी हिंजनाहट होती है उसके लिए संस्कृत भाषा में रेसा शब्द है रेसा बोला हिनहिनाहट को रेसा बोलते हैं ये विलायत में घूमते हुए ये रेसा जो है है ना हार्स हो गया हाँ तो अपनी इंद्रिया दस में होनी चाहिए हपाओं से कहा जाना चाहिए ये बात मालूम होनी चाहिए कब दौड़े कब धीरे चले हैं कहाँ पाँव संभाल के रखें हाथ से क्या करें क्या न करें मुंह से क्या बोलें क्या न बोलें है ना आँख से क्या चीज देखना क्या नहीं देखना कान से क्या सुनना क्या नहीं सुनना तुम साधन के मार्ग पर चलो और तुमको इतनी भी समझ न हो कि हम अपने दिल को बिगाड़ रहे हैं कि बना रहे हैं चलो तो साधन करा आपके देखो भक्त का दिल तब बनेगा ना जब उसके दिल में भगवान रहेंगे जिज्ञासु का दिल तो तब बनेगा ना जब उसकी वृत्ति ब्रह्माकार होगी श्रवण मनन निधि ध्यान करेगी यदि वो विषय भोग का चिंतन करेगा शत्रु का चिंतन करेगा गुण दोष का चिंतन करेगा तो क्या उसके हृदय का निर्माण होगा तो यदि तुम साधक हो करके भक्त हो करके जिज्ञासु हो करके इतना भी नहीं समझ पाते कि इस काम से इस भोग से इस वस्तु से इस संबंध से हमारा दिल बनता है कि बिगड़ता है अगर इतनी भी तुम्हारी समझ नहीं है कि इससे हमारे करता है अगर इतनी भी तुम्हारी समझ नहीं है कि इससे हमारे हृदय में शांति आती है संतोष आता है है ना रस आता है प्रकाश आता है ज्ञान आता है अगर ये बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आती तो साधन के मार्ग पर क्या चलोगे तो जो सारथी विज्ञान रहित है माने प्रवृत्ति निवृत्ति कहा करनी चाहिए ये मालूम नहीं और मन बस में है मन जो है वो नियम में है नहीं अयुक्त है और इंद्रियां बस में है नहीं तो उनकी क्या गति होगी कि जैसे मूर्ख सारथी और दुष्ट घोड़ों को किसी रथ में जोड़ दे और उसको ले जाकर गड्ढे में गिरा दे यही हालत उस मनुष्य की होगी अवश्यानी अवश्यानी का अर्थ है अशक्य निवारण और फिर घोड़ों को रोक नहीं सकते लेकिन जस्तु विज्ञानवान भवती युक्त मनसा सदा तस्ेन्द्रिया वश्या सदस्वा इव सारथे यस्तु विज्ञानवान भवती जो विज्ञानवान है विज्ञानवान माने विशेष ज्ञान एक होता है सामान्य ज्ञान और एक होता है विशेष ज्ञान एक तो मालूम पड़े कि सब सड़कें हैं देखो हाँ। चौराहा है सामने भी सड़क है पीछे भी सड़क है दाहिने भी सड़क है बाएं भी सड़क ये सामान्य ज्ञान है लेकिन हमको किस सड़क से जाना है ये विशेष ज्ञान है तो आपको यदि साधन के मार्ग पर चलना है इस मार्ग से आप चल रहे हैं इसका आपको ज्ञान होना चाहिए भक्ति हो आपके हृदय में तो जो दृश्य है उसमें भगवत बुद्धि होनी चाहिए और यदि ज्ञान के मार्ग में आप चल रहे हैं तो जो दृष्टा है उसके ब्रह्मत्व का ज्ञान होना चाहिए दृश्य में भगवत बुद्धि भक्ति है हाँ। जो हमारे सामने है वो भगवान है देखो कितना संतोष है कितनी शांति और ज्ञान में तो जो दृष्टा है सबको जो देख रहा है वो भगवान है और असल में दृष्टा भी भगवान है दृश्य भी भगवान है क्योंकि दृष्टा के अतिरिक्त दृश्य तो कुछ अन्य तो है नहीं है ना तो भक्त दृश्य में भगवान को देख के हृदय का निर्माण कर लेता है और दृष्टा में भगवान को देखकर ज्ञानी दृश्य से निवृत्त हो जाता है और अंत में दोनों एक हो जाते हैं लेकिन महाराज जब विज्ञान नहीं है अभिज्ञान है नहीं नैगुण्य नहीं है तो उधर मोहब्बत कर बैठे हाँ, उधर दुश्मनी कर बैठे उसकी निंदा में लग गए उससे द्वेष में लग गए तो भगवान बिचारे तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं बिचारे हैं क्योंकि वो तो है ना तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं और तुम रास्ते में तुम रास्ते में अपने दुश्मन को साध रहे हो और तुम दोस्त से है डाले हुए हो और भगवान तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं महाराज आत्मा जो है आत्मा जो है वो अपने स्वरूप को भूलकर कृष्ण में लग रहेगा तो विज्ञानवान होना चाहिए और युक्ते न मन सदा मन में युक्त पना होना चाहिए युक्त पना जानते हैं आप गीता में इस युक्त की ऐसी बढ़िया बढ़िया व्याख्या की हुई है देखो शक्नी शक्नोती है यह सोधम प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त सुखी नर युक्त कौन है, है? जो युक्त जस युक्त है स सुखी जो युक्त होता है वो सुखी होता है तो युक्त कौन है तो इसी जीवन में जो काम के वेग में आकर के भोग में प्रवृत्त नहीं होता और जो क्रोध के वेग में आकर हिंसा में प्रवृत्त नहीं होता कायिक वाचिक मानसिक हिंसा से करते हैं चखो की यही वजह से हो प्राग शरीर विमोक्षणा काम क्रोध बेगम सयुक्ता सुखी न रहे जो युक्त है वही सुखी है सहिष्णुता जीवन में सहिष्णुता आनी चाहिए यदा विनियतम चित्तम आत्मनिवारतिष्ठते निस्पृह सर्व कामे विधो युक्त इत्युच्यते तदा यदा विनियतम चित्तम आत्मनिवावतिष्ठते जब चित्त की ज्योति चित्त का दीपक जो प्रज्वलित हो रहा है वो हृदय मंदिर में ही प्रज्वलित हो गए बाहर हवा लगाने के लिए न ले जाए लड़खड़ा जाएगा जैसे आप यहाँ बैठे हैं ना तो जैसे निवृत्ति का एक मार्ग बताता आप एक मिनट ही ख्याल करो कि हिंदुस्तान से बाहर अपना मन न जाए तो गई है ही नहीं हिंदुस्तान में गए बोले अच्छा बम्बई से बाहर न जाए तो अच्छा, एक मिनट ये ख्याल करो कि प्रेम कुटी से मन बाहर न जाए अच्छा फिर एक मिनट ये ख्याल करो कि हृदय से बाहर प्रेम कुटी में भी है ना अपने हृदय से बाहर न जाए और हृदय में भी कोई दूसरी चीज का ख्याल न आवे इसका नाम युक्त हो जाएगा वो यदा विनियतम चित्तम निष्प्रिय निस्पृह सर्व कामेदियो कोई कामना नहीं कोई ख्याल नहीं है ना मरती है दुनिया मर है निवृत्ति अरे वैराग्य तो होता ही नहीं महाराज बीस बीस वर्ष भजन करके अपने भजन में निष्ठा नहीं होती है आश्चर्य तो ये है, है कि श्रवण मनन निधि ध्यान करे है ना तो वो उसमें निष्ठा निष्ठा न हो मान देखो हमारे निष्ठा शब्द का अर्थ जरा हम खुलासा करके बताते हैं हम निष्ठा शब्द का अर्थ ऐसा समझते हैं कि जो हम साधन करते हैं ना जैसे हम जब करते हैं ध्यान करते हैं दस मिनट बैठते हैं तो ये इतना स्वाभाविक अपने जीवन में हो जाए कि ऐसी हमारी रहनी बन जाए सहज स्वभाव से मरने तक मृत्यु के दिन तक तुम जप करते हुए रहना चाहते हो कि नहीं अपने चित्त को एकाग्र करके रहना चाहते हो कि नहीं तुम पूजा करते रहना चाहते हो कि नहीं तुम यही श्रवण मनन निधि ध्यापन करते रहना चाहते हो कि नहीं है ना मरने के दिन तक तुम अपने को ब्रह्म समझते हुए रहना चाहते हो कि नहीं मरने के दिन तक तुम अपने हृदय को भगवत प्रेम से भरे रखना चाहते हो कि नहीं निष्ठा के माने ये हैं कि जब तक ये जीवन है और यदि इस जीवन के बाद भी जन्म हो तो उसमें भी जन्म जन्म लगी रगर हमारी डरो शंभु न दुराहों कुमारी और महाराज चार दिन जप किया चार दिन ध्यान किया चार दिन पूजा की चार दिन मौन रहे है ना चार दिन व्रत किया चार दिन उपवास किया है ना वो आत्मज्ञान गया उधर वो वेदांत गया उधर वो भक्ति गई उधर वो ईश्वर पड़ गया पीछे और सामने आ गई दुनिया निष्ठा कहाँ हुई सामने आ गया गुण दोष सामने आ गया राग देश सामने आ गई पार्टी बंदी सामने आ गई दलबंदी निष्ठा कहाँ है अपने जीवन में उस निष्ठा को ढूंढो युक्त ही न मनसा सदा देखो गीता में युक्त किसको बताते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त योगी योगी समलोष्टात्मकांचन ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा तुम्हारी आत्मा किस में तृप्त है बोले नोट के बंडल में तो नहीं नहीं बोला खाए में तृप्त है खाने पीने में हाँ, कुर्सी में संसार में ये परिवर्तन हो जाए तो हम खुशी हो जाए एक बार एक महात्मा से मैंने पूछा बड़े सिद्ध महापुरुष से है ना तो देखो सिद्ध महापुरुष का अर्थ भी आपको बता देते हैं है ना हाँ जो जो आग में न जले उसको सिद्ध नहीं बोलते हैं सिद्ध उसको बोलते हैं जो स्वतः सिद्ध परमात्मा है ना उसको जिसने आत्मा के रूप में जान लिया सो तो सिद्ध और बाकी सब सपने के खेल हैं जितने सिद्ध पैदा हुए और मर गए है ना जितनी सिद्धियां आई और चली गई है ना सिद्ध एक है परमात्मा परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ सिद्ध है नहीं अगर उससे तुम एक हो गए तो सिद्ध हो तो सिद्ध पुरुष का हो सिद्ध पुरुष मैंने परमात्मा से ऐक्य का बोध था उसको उससे मैंने पूछा कि क्यों दुनिया में क्या क्या हेर फेर हो जाए क्या क्या परिवर्तन कर दिया जाए संसार में तब तुम इसको पसंद करोगे राजा कैसा हो कानून कैसी हो सामाजिक स्थिति कैसी हो इन लोगों का शरीर कैसा हो खाना पीना कैसा हो जरा उस दुनिया का स्वरूप बताओ जिसको तुम पसंद करोगे अरे वो तो हंस गया बोला कि राम राम राम है ना दुनिया सोने की हो जाए कि दिव्य बन जाए तब भी इसकी किसी अवस्था को हम पसंद करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा रूप से तो ये ठीक है और बने हुए रूप में हम इसको पसंद नहीं करते और बिगड़े हुए रूप से हम नाराज नहीं हैं दुनिया के परिवर्तन परिवर्तन में हमारी दिलचस्पी नहीं है कि हाँ। ऐसा ऐसी हो गई दुनिया तो बिगड़ गई और ऐसी हो गई दुनिया तो बन गई अरे ये बिगड़ना और बनना तो दोनों सपने का खेल अपने आत्मा में नितान्त हुआ भास रहा है है ना ये बन जाएगी ऐसी तब हम पसंद करेंगे और ये बिगड़ जाएगी तो हम इससे नफरत करेंगे दुश्मनी करेंगे हम अपने दिल में इसके लिए राग द्वेष हम इसके लिए मोहब्बत और नफरत अपने दिल में काहे को दिखाएंगे दुनिया के लिए है ना क्या हमारा आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त नहीं है कि हम दूसरे से नफरत करने जाएं और दूसरे से मोहब्बत करने जाएं तो ये बात युक्त न मनसा सदा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त योगी कांचन तो सत्येन्द्रिया वश्यानी प्रदत्वा इव सारथे जैसे अच्छे घोड़े सारथी के बस में रहते हैं वैसे उसकी इंद्रियां बस में रहती हैं और जिसका मन युक्त नहीं है और जिसकी बुद्धि में विज्ञान नैपुण्य नहीं है का तो उसके जैसे बुरे बिगड़े हुए घोड़े बस में नहीं होते ऐसी स्थिति होती है तो दो बात साधन की बताई गई कि यदि विज्ञान रहित अयुक्त मन से इंद्रियों को बिल्कुल उच्छृंखल छोड़ दोगे तो साधन पंथ से गिर जाओगे और यदि नहीं पुण्य से युक्त मन से इंद्रियों को वास में करके आगे बढ़ोगे तो जैसे सारथी अच्छे सभी हुए घोड़ों को बढ़ाता है वैसे आगे बढ़ोगे अब तीन तीन मंत्र फल के संबंध में आते हैं यज्ञानवान भवती अमनश्च सदा श्रुति न सत्पदमापनोति संसारं चाधिगच्छति यस्तु विज्ञानवान् भवति स मन कदा श्रुतिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते अभिज्ञानवत संसार गति ही अब अभिज्ञानवान अनिपुण जिसकी बुद्धि बेवकूफ है वकूफ माने ज्ञान होता है वो बेवकूफ माने मूर्ख अज्ञान ना समझ हाँ, उल्टी समझ नहीं उल्टी समझ वाले के तो का तो कभी कल्याण होता नहीं एक होता है ना समझ और एक होता है उल्टी समझ उल्टी समझ वाला तो अगर कोई चौराहे पर खड़ा हो और उसको रास्ता न मालूम हो ना समझ हो तो वो दूसरे से पूछे तो रास्ता मालूम पड़ जाएगा लेकिन उसकी समझ उल्टी हो वो पूरब को पश्चिम समझ के किसी से पूछे नहीं और पक्का हो जाए कि हम तो इधर ही चलेंगे तो उसको रास्ता मिलना शक्य नहीं है उल्टी समझ वाले के लिए मार्ग नहीं है परंतु ना समझ के लिए मार्ग निकल जाता है तो यज्ञानवान भगवती अविज्ञानवान भगवती जिसके चित्त में पुण्य नहीं है देखो हम काम कौन सा करते हैं कुछ छोड़ने का कुछ पकड़ने का कुछ पाने के लिए काम करते हैं और कुछ छोड़ने के लिए जैसे शरीर में मैल लगी है तो उसको निकालने के लिए साबुन लगाते हैं तो ये त्याग का काम मनुष्य छुड़ाने का काम हुआ ना और कहीं कहीं बिल्कुल रूखा हो गया है तो उसको चिकना करने के लिए तेल लगाते हैं कोई तो चिकन की स्नो लगाते हैं तो ऐसे जैसे शरीर में मल होता है उसको निकालते हैं और भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में जो क्रिया होती है वो कुछ त्याग करने की होती है और कुछ ग्रहण करने की होती है तो जिसको हम चाहते हैं कि इसको छोड़ें उसके छोड़ने के लिए प्रयत्न करते हैं और जिसको हम चाहते हैं कि पकड़े तो पकड़ने के लिए प्रयत्न करते हैं तो कर्म के मूल में इच्छा होती है इच्छा है ना और इच्छा किसके लिए होती है कि तो जिसको हम अपने लिए सुख का साधन समझते हैं इष्ट का साधन समझते हैं उसको अच्छा समझते हैं और जिसको हम अनिष्ट का साधन समझते हैं उसको बुरा समझते हैं है ना तो अंत में बात कहाँ पहुंची कि हमारी बुद्धि सबसे बड़ी चीज है वो बुद्धि अहंकार की दी हुई हो तो गलत रास्ते पर ले जाएगी और गुरु की शास्त्र की ईश्वर की दी हुई हो तो सही रास्ते पर ले जाएगी आखिर बुद्धि की भी तो कसौटी चाहिए ना देखो बोले भाई अरे बुद्धि ब्रह्म की ओर जाए तो बहुत अच्छी बोले भोग चाहने वाले जो देश हैं रूस में चले जाओ चीन में चले जाओ और बोले कि देखो हमारी बुद्धि बहुत अच्छी है क्यों तो ब्रह्म की ओर चलती है है ना तो वो तुमको गुरजुआ कह के है ना सांस्कृतिक क्रांति का शिकार बना देंगे है ना और कहेंगे अरे पुराना आदमी गुरजुआ है ना पिछड़ा हुआ ऐसे तो ये नहीं है कि जिसको सब लोग कह दें कि ये बुद्धि अच्छी वो अच्छी और जिसको सब लोग कह दें कि बुरी वो बुरी ये बुद्धि का निर्णय वोट से नहीं होता क्योंकि वोट तो जमाने जमाने में बदलता रहता है कभी दाहिने जाता है कभी बाएं जाता है कभी वामपंथी को मिलता है कभी दक्षिणपंथी को मिलता है ये वोट से ये बात तय नहीं होती बुद्धि की भी कसौटी होती है वो कसौटी क्या है है ना का गुरु उसकी कसौटी है शास्त्र उसकी कसौटी है है ना आत्मानुभूति उसकी कसौटी है है ना तुम्हें क्या शांति का अनुभव होता है क्या तुम्हारे हृदय में रसोल्लास होता है, है? क्या आनंद स्वरूप परमात्मा तुम्हारे हृदय में प्रकट हो रहा है अगर नहीं तो गलत रास्ते पर जा रहे हो बोला तो आओ बुद्धि को विज्ञान रहित मत रहने दो विशेष ज्ञान किस रास्ते चलना है और क्या पाना है ये बिल्कुल निर्णय कर लो और अमनस कहा अमनस का अर्थ क्या है तो देखो अगर मन तुम्हारा खराब रहेगा ना मन कहीं तुम कहीं दिल कहीं तुम कहीं तुम्हारा तो दिल दूसरे के घर में है और तुम कहीं हो ये देखो लड़कियां और लड़के जो कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं ना वो फेल कब होते हैं जब वो अपना दिल कहीं दूसरी जगह लगा देते हैं हो वहाँ तो ज्ञान प्राप्त करना है विज्ञान प्राप्त करना है जीवन को उन्नत करना है है ना ठीक रास्ते से चलना है अब वो स्कूल कॉलेज में जाके मोहब्बत करने लगे ना तो पढ़ना लिखना बिगड़ जाता है तो अमनस्क का अर्थ है कि यदि तुम्हारा मन हाथ से छूट के गिर गया इधर गया उधर गया तो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी यदि तुम ठीक लक्ष्य और ठीक मार्ग नहीं समझोगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी सदा सुखी तो इसमें चार बात पहले बताई एक तो शरीर से जो दुष्चरित्र होता है उसको छोड़ना और दूसरे मन में जो काम क्रोध आते हैं उनको शांत करना और तीसरे मन में जो विक्षेप है उसको शांत करके एकाग्र करना तो एकाग्र करने पर जो सिद्धियां आती हैं है ना उनको महत्वपूर्ण न समझना ये चार बात है और पांचवी बात क्या है चार बात हो गई ना दुष्चरित्र से छूटना मन में काम क्रोध आदि को स्थान न देना और चित्त में एकाग्रता लाना विक्षेप को मिटाना और विक्षेप को मिटाने से जो शरीर में ज्ञान रूपी किरणों का बकरी भवन होता है उससे नए नए दृश्य दिखते हैं नए नए लोग दिखते हैं बोला और शक्ति का जो संचय होता है उससे विलक्षण शक्ति आती है तो एक आदमी ने बारह बरस तप किया अब उसको सिद्धि क्या मिली कि खड़ाऊ जो थी ना उसकी सिद्ध हो गई खड़ाऊ खड़ाऊ पहन के नदी पार कर जा तो अपने घर लौट के आया अपने बाप को बताया कि बारह बरस में सिद्धि लेके गया बाप ने कहा कि बेटा पुराने जमाने की बात हम तो मल्लाह को दो पैसा देते हैं और नदी पार करके चले जाते हैं तो दो पैसे में हमको जो फायदा होता है बारह बरस तपस्या करके तुमने वही फायदा किया दुनिया में कुछ भी पा लेना ये योग का फल नहीं है तो सिद्धि से निरपेक्ष है ये कहते हैं कि जब योगाभ्यास आदमी करता है तो संगत में करना देवता लोग आके आमंत्रण देते हैं दिग देवता कहती है चलो हम तुमको विलायत में इस समय क्या बात हो रही है सुना के ले आवे रहे हैं ज्ञान है ना अभी रूस में अमेरिका में इसके प्रयोग किए गए हैं बैठते हैं कहीं दो दो सौ मील दूर की बात को सुनने का अभ्यास है ना और दो दो सौ मील दूर की चीज देखने का अभ्यास सारेन्द्रिय ज्ञान बोलते हैं अब वहाँ से आएगा तो यहाँ के लोग भी आदर करेंगे उसका लेकिन नारायण कहो है ना ये चीज परमार्थ के साथ इसका संबंध नहीं है ये बिल्कुल लौकिक वस्तु है क्योंकि इससे संसार ही दिखता है तो तीन बात रही है एक तो बुद्धि में पूर्ण हो कि वो आत्मा परमात्मा के सिवाय दूसरी किसी चीज को चाहे नहीं और दूसरे मन अपने वश में हो वो कहीं हाथ से गिर न जाए और तीसरे सदा सोचे है ना पवित्र रहो हमेशा अपवित्र मत बनो हाँ, पवित्रता अपवित्रता क्या है साधारण रूप से तो इसकी परिभाषा ये बना लो कि जो काम करने में तुमको हिचक होती है है ना करने के समय अभिमान होता है करने के पहले वासना रहती है करने के बाद ग्लानी होती है थकान होती है गिर जाते हैं है? करने के बाद तो ग्लानी हो करने के समय आदेश होए और करने के पहले वासना होए ये अभिमानों के अभिमान के तीनों बच्चे जिसके साथ रहते हों पहले वासना वर्तमान में आवेश और करने के बाद गिलानी तो अपवित्र है वो अपवित्र उसको कहते हैं जो चीज बिल्कुल शुद्ध निखाली हमारे गांव में गेहूं शुद्ध है कि नहीं कि नहीं उसमें थोड़ा जौ थोड़ी मटर मिलेगी बोले तो शुद्ध नहीं तो जब अपना आत्मा बिल्कुल जड़ता के मिश्रण से रहित शुद्ध हो विवेक करो निकाल दो जड़ता को तो तब परमात्मा की प्राप्ति होती है न सत्पदमा तो नोती अब मन में बुद्धि में नहीं निपुणता नहीं मन हाथ में नहीं और चरित्र जो है वो पवित्र अब देखो इसमें तीन बात है सदा सुखी से चरित्र पवित्र है और अमनक्का से मन सद्भावना शून्य है और अभिज्ञानवान से विवेक जो है वो ढीला है तो विवेक ढीला है मन में सद्भावना की कमी है और और चरित्र पवित्र है सा तत्पदमा पदमापनोती उसको परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होती तो क्या होता है जाय स्वमृय संसारं पैदा हो बेटा और मरो बस ही मिलेगा और जब तू विज्ञानवान भगवती जिसकी बुद्धि निपुण हो मन अपने हाथ में हो और चरित्र पवित्र होए सत सत पदमापनोती उसको परमात्मा पद की प्राप्ति होती है जहाँ से फिर लौटना नहीं होता वो मैं भूल गया था मेरा ध्यान उतर गया था आ, वो क्या नाम है